अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ न रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगें तुम उनसे निकाह कर लो दो दो तीन तीन चार चार से लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है या तुम्हारी मिल्कियत की लौंडी ये ज़्यादा करीब है क्या ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओ